और उसने तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को सुकून की जगह बनाया और तुम्हारे लिए मवेशियों के खालों से ऐसे घर बनाए जो तुम्हें सफर पर रवाना होते वक्त और किसी जगह ठहरते वक्त हल्के फुल्के महसूस होते हैं और उनके ऊन उनकी रुएं और उनके बालों से घरेलू सामान और ऐसी चीजें पैदा की जो एक मुद्दत तक तुम्हें फायदा पहुंचाती हैं